हम तो शौक से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा परवर्दिकार इस वजह से हमारी खताएं बख्श देगा कि हम सबसे पहले ईमान लाए थे